मनसोदुर्निग्रह वासिष्ठ वाक्य में प्रमाण यदि मन दुर्निग्रह है इस विषय में वशिष्ठ का वाक्य को प्रमाण करके प्रस्तुत कर रहे हैं महत साधो विषमश्चित्त निग्रह महत अभ्यपानादपि महत समुद्र को पी जाने से भी महान कार्य मन को निग्रह कर समुद्र को पी लिया अगर तुम्हारे से बड़ा आसन पी गए ये संकल्प बाण उठाए तो समुद्र में लग गया राम जी बाण उठाए सुखा दूंगा बोल पुल नहीं बना नहीं करा सुखा दे रहे थे एक बाण से वो भी आसान लेकिन मन का निग्रह करना राम जी भी धैर्य हो गए नाराज हो गए मन कंट्रोल नहीं कर पाए समय बीत रहा है ये कठिन काम है वो तो कहेंगे ना वो तो शास्त्र होंगे माँ का ने कहा असंभव नहीं करेंगे उससे भी महान कार्य है मन को नहीं कर सुमेर उन्मूल नाथ गति महाता कार्य सुमेरु को उखाड़ देना जड़ से उससे भी महान कार्य है मन को लेकर अभी वन्य नाच पिछा हो साधो भोरा वन्य को खाकर निगल जाने से महान कार्य है मन को निग्रह माता विषम चिंतन उनका महान कठिन कार्य है विषम मने कठिन कार्य है जो मन को निग्रह है तो जब महाराज विचार तो चल रहा था निध्यासन और ध्यान में अंतर आप कहा चले गए कहते नहीं हम कहीं गए नहीं उसी चर्चा में है तो ध्यान में मन को लगाना पड़ता है मन को निग्रह करना पड़ता है इस को नियमों को पालन करना पड़ेगा ये हमारा अभिप्राय था और निध्यासन पर वेदांत विचार में एकाग्रता में कोई नियम की जरूरत नहीं है ये हम समझाने के लिए ध्यान में क्या कठिनाई है ध्यान का लक्षण ध्यान का स्वरूप उसकी प्रक्रिया उसमें कठिनाई उनको तो। और वेदांत चिंतन में रूप एकाग्रता में सचिंतन तत्व प्रबोधन में कोई नियम नहीं कभी भी कहीं भी कैसे भी आप विचार कर सकते चिंतन कर सकते हैं पढ़ सकते हैं पढ़ा सकते हैं कथा हो सकती है विचार हो सकते प्रकृति तत्व वचन दर्शे प्रकृति मैंने विपरीत भावना का निवर्तन ध्यान में उससे मैं ध्यान के पेक्षा से विलक्षणता को दिखाए कथनाद न निर्बंध श्रृंखलाबद्ध देहवत चिंतन से विनोद नाट्यवध्य कथनादो न निर्बंध तब चिंतन तब कथन इत्यादि में कोई निर्बंध कोई नियम कोई लगाम नहीं कोई बंधन नहीं जैसे श्रृंखलाबद्ध देहवत सांकल से बांध दिया जैसे से बांध दिया हुआ शरीर वह जैसे नियंत्रण में आ गया वो जितनी दूर चेन उतनी दूर घूम फिर सकता उसे आगे बढ़ा नहीं सकता वैसे यहाँ कोई बंधन नहीं है किंतु अनंत इतिहास अध्ययन विनोदो लक्ष्य किंतु अनंत जो इतिहास आदि ग्रंथ है ये सब बुद्धि के लिए विनोद के समान है मनोरंजन के समान है क्यों नाट्यमान नाट्य में क्या बाल व्यवहार जन्म साप संताप तनाव वगैरह को क्या करता है आप नाट्य ग्रहण जगह बैठे नृत्य हो रहा है तो देख करके सारा तनाव दूर हो जाए उसी प्रकार से जो मन से जन्म क्लेश है जो संताप है सांसारिक ताप उस निवृत्ति कैसे होगा इतिहास प्रणाली पढ़ते हुए उसे वेदांत को घटाते हुए जाएंगे मन में सारा जितने भी संशय है विपरीत भावना है सारा का सारा हो जाएगा श्रृंखलाबद्ध देह से यथा निर्बंध श्रृंखला से बद्ध देह का जिस प्रकार निर्बंध है न तथा कथना दो कथा आदि में कोई बंधन नहीं है आदि शब्द से कथा आदि से कहना तद चिंतनम तद अन्य प्रबोधन इत्यादि न चलन निर्बंध भाव निर्बंध का भाव इतना ही नहीं प्रतिशत विरोध क्या वैसे तो उल्टा जो है बुद्धि के लिए बड़ा विरोध होगा अलग अलग उपनिषद पढ़ जा रहे हैं प्राण को पढ़ रहे हैं अलग अलग तरीके से वेदांत समझाया जा रहा है अलग अलग पात्रों को प्रस्तुत किया जाता है बड़ा अच्छा लगता है उससे जो आपको मन लगा हुआ रहता है केवल निर्बंध भाव से प्रसिद्ध जो विरोधी किया है इतिहास है मैंने पूर्व एकांकता इति इति कबे है हे कबे है असु असु जो धातु है आस उपवेशन आस उपवेशन आसनम इसी आसन इतिहासनम इतिहास ऐसा ही हुआ था इस पर जो कथन करेगा ना इतिहास पूर्वेशा कथा आद्या तेषा लौकिक कथा अनुकूल उनकी दृष्टांत रचना आदि नाम उनके उनका लौकिक कथा के अनुकूल युक्ति दृष्टि द्वारा ते कितने हैं लेकिन अनंत असंख्याता एक दो नहीं सैकड़ों हैं ते इतिहास अनंत इतिहास अध्यास ऐसे जो अनंत इतिहास आदि है उनके तरफ क्या होता है दिया बुद्धे है विनोद बुद्धि का विनोद होता है बुद्धि का मनोरंजन होता है क्रीडा विषय होती इस प्रकार तथा दृष्टान्त नाट्यवदी नाट्य के समान समझो नृत्य क्रिया निरीक्षण जीव नाटक तो नाटक करना नहीं है नृत्य क्रिया का निरीक्षण क्रिया करने में बड़ा थकान भी है परेशानी भी है बहुत कुछ है निरीक्षण में तो बहुत है मैंने कथादि तो क्या के द्वारा भी तदेक परत्रूपा निध्यासन में विघात ही होगा विघ्न ही होगा उन्होंने पात्र आते हैं मनोरंजन हो जाएगा क्या वहां तो उल्टा फंस भी सकता है वहां तो सौंदर्य का वर्णन आदि आ जाते उसे मन चला जाएगा तो फंस जाएगा एक बार एक व्यक्ति ने ऐसा पुस्तकों को पढ़ लिया और बाद में जो लड़की को देख वो देख रहे हो जो नहीं ये ठीक नहीं माता पिता परेशान हो गए जो लड़की से ऊपर हो गए शादी नहीं करे किसी लड़की ने जितने भी सब थे फिर हंसने बैठा कर पूछा गया बड़ा फिर दोस्तों को पता लगा क्या बात वो कहा एकदम मेरे मैंने पढ़ा पुस्तकों तो में ऐसे ऐसे लक्षण वाली ही लड़की को घर में होना चाहिए और लक्षण वाली कोई दिखती नहीं लिया करे अरे करे लक्षणों वाली कहाँ मिली जो मिल गई तेरे भाग्य में है लिख ले रख लेना कहाँ से चक्कर में पड़ रहा और लिस्ट बना ले लक्षणों को बाल इतना लंबा होना चाहिए कान इतने चौड़े होना चाहिए बोवा ऐसी होनी चाहिए और फोटो में देखते था वो लड़की को देखता था कहते नहीं देखा ये लक्षण नहीं भूमि इतनी लंबी नहीं है तो बेकार ललाट इतनी चौड़ी होनी चाहिए दिख गया शास्त्र में अब और देख रहे वो लड़की कोई बाल यहाँ से कोई बोले यहाँ से लड़की चौड़ी है नहीं ढंग का वो बेकार अब क्या इतिहास पढ़ के उसमें साहित्य पढ़ के वेदांत निकालेगा उल्टा उठा दिया वो सीधा भागवत पढ़ेंगे गोपियों का सौंदर्य का वर्णन आ रहा है और वो हिंदू दुनिया में तो मुश्किल हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि भाई ये तो उल्टा फंसा भी सकता है पर सिद्धांत कहता नहीं ये पुराण इतिहास पर जो रचा इस तरह से रचा गया है कि उससे आपको वेदांत ही निचोड़ में निकलता है जितने भी पुराण है जितने इतिहास है वाल्मीकि महाभारत वगैरह रामायण है महाभारत है जितने भी महान पुरुषों में लिखे गए श्रेष्ठ काव्य भी सात्विक काव्य होते हैं रजोनी काव्य तमोनी भी सात्विक काव्य भी पूरा वेदांत को पसंद अब रघुवंश पढ़ लो पूरे वेदांत पर बोल रहे और घटाने के ऊपर निर्भर है ना आप उसको उल्टा ले गलम वो कहते हैं आजकल जो लड़के हैं ना अरे भगवान के राखिला का मतलब क्या आज क्लब डांस तो के बराबर है वो होटल में नाइट क्लब में डांस होते हैं लड़का लड़की नाचते हैं बस ये जो एक ही हजार हो गया बोलते हैं और यहाँ एक ही हजार होता नहीं हजार लड़के आते हजार लड़कियाँ आती नाचती हैं जैसे उल्टा पुल्टा बोलने वाले बोलते हैं इसलिए कहते हैं कि ये वास्तव में ऐसा नहीं है हमारे शास्त्रों का इतिहास पुराण जो ऋषियों ने लिखी है वो कहता है चिदेवात्मा जीवन मिथ्या निध्यासन विक्षेपो नेतिहासादिर्भवे चिदेव आत्मा जगन मिथ्या पर्यवसा इतिहास पुराण आदि ग्रंथों का निचोड़ जो तात्पर्य का निर्णय है वो किसमें है इस बात को सिद्ध करने में सचित आनंद ब्रह्म एक में तत्व ही सत्य है और सारा जगत इसको सिद्ध करने में ही सारा इतिहास प्राण को मुक्त पाना जितने भी शब्द आ रहे हैं जितने भी पात्र आ रहे हैं जनासन है अवतन द्रौपदी को अपन करने की चेष्टा करा पकड़ा गया भीम को पांच चौकी रख दिया हाँ, ऐसा मुंडन के पांच चौकी बना दिया क्यों ये क्या मामला है ये जरासंध है कौन हम्म? आपके अंदर जरासंध क्या है जराम संधीयते की जरासंध जरा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहा कौन है वो जवानी जवानी ही बुढ़ापे की ओर जाता है बचपन बुढ़ापे में जाता बचपन जवानी में जाता है जवानी बुढ़ापे की ओर जाता है जला की ओर संधान करने वाला जोड़ने वाला कौन है वो जवानी मिलने वाला कौन है जवानी एक जवानी ही लड़की का पीछे भागता है बूढ़ा नहीं भागता जैसे जरासंध हो गया आपकी जवानी द्रौपदी हो गया पर स्त्री द्रौपदी पर स्त्री और आपकी जवानी क्या कर रही है पर स्त्री पर नजर मार रही है ये हर जीवन में होता है इस पर नियंत्रण करना चाहिए रजगुण को बता रहा है बता हर व्यक्ति जब रजगुण उत्पन्न होता है तब व्यक्ति के अंदर जहाँ जवानी के कारण से क्या करता है पर स्त्रियों पर नजर लगाता है तब आपको करना क्या चाहिए तत्काल ही भीम बन जाओ भयंकर हो जाओ अपने इंद्रियों पर कठोर पर दमन कर उस मन को दंड दो जवानी के अहंकार कर रहा है मन और परस्त्री पर नजर डाल रहा है उसको दंड दो दंड क्या होगा पांच चोटी रख दिया का तो मतलब क्या जो पांच ब्रह्मचारी जितना गायत्र जप करते हैं दिन में उतना तुम्हें जप करना पड़ेगा ताकि जवान के बेवकूफी पर नियंत्रण हो सके पांच ब्रह्मचारी एक दिन कितने गायत्र जप करते हैं दो काली संध्या करते हैं मान लो सुबह एक माला शाम को एक माला दो माला पांच में दस माला कम से कम दस माला गायत्री जब करनी पड़ेगी जब भी मन सर से भागता है किसी लड़की की स्त्री के वृद्ध जवानी में तो उस ब्रह्मचारी को काल नियंत्रण करना चाहिए और तुरंत गायत्री का जब करने बैठना चाहिए ये कथा बोल रही है अब इस कथा का असर कौन लेता है अभी वेदांत तरफ जा रहे हैं ऐसे जवानी का नियंत्रण करने से क्या होता है रजगुण पर नियंत्रण करने से गायत्री मंत्र के द्वारा दमन करने से आपका अंतर्गत शुद्धि हुई अंदर से सात्विकता में बढ़ोगे सात्विक मन बनाए रखने के लिए क्या साधन है इस कथा बताना और जब भी सात्विक विचलित हो जाए रजगुण में जाए तो दंड महाभारत एक छोटा सी घटना है लेकिन वो बता रहे ब्रह्मचारी को जवानी में होने वाले प्रमाद का प्रायश्चित प्रैक्टिस कर्म का इस तरह से वर्णन कर रहा है इस तरह से हर कथा को पूर्ण रूप में आप ब्रह्म ज्ञान नहीं ले सकते जगन मिथ्या और आत्मसत्व में ही वो जंग में ले जाना पड़ा कहीं साधन में ले जाना पड़ता है कहीं शम दंत दिशा समयान अधिकारियों के अंदर ले जाना पड़ता है जो कि ब्रह्म चिंतन तक कथन तद अन्य प्रबोधन का अंग है उसे घटानी पड़ती उससे जो बाधक बन रहा है जगह उसका दमन में कथा बता ये विलक्षण यहाँ पर एक कारण देखो इसीलिए इतिहास आदि नाम इतिहास आदि हमारे वेदांत से बाधक नहीं है इनका पढ़ना क्यों क्योंकि उनके द्वारा क्या निर्णय लिया जा रहा है आत्मा चिन्नात रूप न देहादि रूप जगत मिथ्या इतना प्रयोधान इस तथ्य का प्रयोधान तात्पर्य निचोड़ अतएव न तदेव परत्व इसे उनके द्वारा एक शब्दादि निध्यासन में विक्षेप कारक ये नहीं है अतएव हम वेदांत लोग यदि भागवत पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो कोई दोष नहीं लेकिन पढ़ने पढ़ाने में ध्यान रखना है आप पढ़ रहे हो तो वेदांत तरफ को ले जाओ पढ़ा रहे हो तो वेदांत तरफ से घटा के सुनाओ या कोई भी पुराण जब भागवत की बात नहीं लोग सन्यास अगर भागवत जब मैं कहता हूँ सन्यासी होने से क्या भागवत तुम्हारे लिए अभिशाप है घर है क्या तो सन्यासी के लिए तो अमृत है कन्यासी के लिए अमृत है शिव पुराण सारा इतिहास पुराण सन्यासी के लिए वेदांत चिंतन में सहयोगी होने का से कालक्षेप भी हो जाएगा अन्यथा वो समय करोगे क्या और मन शैतान का काम उल्टा उल्टा सांसद विचार करोगे योजनाएं बनाते जाओगे अब ये बन गया तो एक चाहिए वो बन गया तो वो चाहिए चलते रहेगा धंधा तो कोई आगे हम सही नहीं तो लगान लगाने के लिए जरूरी है इसी को इनमें मन लगाने से ये हमारे लिए विक्षेप कारक नहीं होती तो पूर्व कहता है फिर तो खुशियाली भी करो खुशियाली भी करो कह ಊರ್ಕೊಳ್ಸಿ ಯಾರಾಗಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ನಾಮ ಅಂಗೀಕಾರೇ ಕೃಷಾದೇರಪಿ कृषादेर इतिहास आदि को स्वीकार कर लेते हो कृष्यादि भी प्रसक्ति सियाद कृष्यादि भी करने की प्रकृति आ जाएगी इतिहास कृषि वाणिज्य सेवाद कालकर्ता विशेष विक्षिप्त से प्रवृत्याधि संभव कृषि वाणिज्य सेवा सेवा से सरकारी नौकरी ना राजा की सेवा गुरु की सेवा नहीं होगा गुरु की सेवा करना सिद्धि होता राजा की सेवा में गड़बड़ी वो विक्षेप गो की सेवा वेदांत श्रवण में अंग श्रुति करे ना तब विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवया अभी सेवा जो गुरु सेवा आपके वेदांत में विच्छेद कारक नहीं है इसलिए यहाँ सेवा सब क्या लेना है राज सेवा तो राज सेवा या धनी सेवा धनी का सेवा है ये जो इच्छुक का तो वेदांत बात किसी सेठ की नौकरी करो वेदांत से रहे सब कुछ करो इच्छुक वेदांत बताओ कि कृषि में अनेक प्रकार की बाधाएं हैं वाणिज्य में भी झूठ छल कपट होता है राज सेवा में भ्रष्टाचार है काव्य में वेदांत इतना आसानी से निकालना असंभव है कि काव्य इंद्रिया वृत्ति ज्यादा समझते क्या है काव्य से वेदांत घटा सकते हो ये आम आदमी की बस बात नहीं अच्छे से विद्वान की बस बात नहीं जैसे विदुषा भागवत परीक्षा का विद्वानों की परीक्षा भागवत में निकालो वेदांत भागवत को पता चलता है कैसे निकालेगा कभी जब भागवत में ही विद्वानों की पहचान हो जाता है काव्य में तो कहना ही क्या यहाँ तो केवल अभिधा वृत्ति और लक्षणा वृत्ति होती है अधिक से अधिक गौणी वृत्ति होगी काव्य में तो व्यंग्यावृत्ति है व्यंग्यावृत्ति समझने का बड़ा मुश्किल है मुझे पता है एक बार मैंने व्यंग्यावृत्ति का सुनाया था है? कबीरा बोल दिया चिंटी चढ़े पहाड़ पर नौ मन तेल लगाए चिंटी चढ़े पहाड़ पर नौ मन तेल लगाए हाथी चढ़ाए पीठ पर ऊंट बगल लटकाए भाई चिंटी कहेगी चढ़ सकता तो पीठ पर हाथी चढ़ जाए तो चिंटी जिंदा कहा और बगल में ऊंट बैठता जाए असंभव बात नहीं इस बड़ा कठिन करना विद्वान लोग समझ सकते हैं चीजों साधारण विद्वान भी से घटा नहीं सकते उनके चक्कर पड़ जाते नौ मन तेल गया होता है बड़ा कठिन काम अब तेल नौ मन लगाना नौ चौका तीन सौ साठ किलो तेल मालिश कौन करेगा आदमी नहीं कर स्थिति कहाँ कर लेगा डुबो दोगे ना तो फिर तेल पूरा पी नहीं सकता शरीर आदमी का इतना तो उसका सारा तलब है उसको निकालना पड़ा पहली भिक्षा अन्न को लाना पहली भिक्षा अन्न का लाना गांव नगरिया के पास न जाना हिंदू तुर्की छोड़ के लाना लाना झोली भर के लाना आज बताओ गाँव में जाओ नगर में जाओ कहीं में जाओ पिक्चर तो कहाँ से लाऊंगा और हिंदू तुम साथ जात छोड़ जाती आदमी कहाँ से मिलेगा हमको जो भी आएंगे पास जाओ पूछे तुम तो हिंदू की तुर्की है तो यहाँ हिंदू बोले तो मुसलमान बोले मुसीबत है हिंदू मुसलमान सबको छोड़ के लाओ ऐसे कोई आदमी मिलेगा कहाँ से लाऊंगा इस बार क्या बताओ इस के कार्य में भी अर्थ निकालना मुश्किल हो जाने से क्या होता है और स्थूल अर्थ में फंस जाता है और स्थूल अर्थ क्या है उसका रसगुण समझ श्रृंगार रस है सौंदर्य वर्णन किया काम वास में चलते स्थूल अर्थ पकड़ोगे तो काम वास में चल जाएंगे तुम्हारे इसलिए तो कार्य तर्क में तो पूछो ही मत तर्क जाल फंसी जाओगे वस्तु तो विस्मृति हो जाएगी वहां क्या विचार हो रहा है कि बात हो रहा है क्या सत प्रतिपक्ष है या सीधी दोष है क्या दोष है उसी ज्यादा फंस जाएंगे पंचता बात की टीचर में फंस जाता है आदमी निकल ही नहीं पाता तो सत्य स्मृति कैसे हो इसे कहते कृषि वाणिज्य सेवा दो काल के सुचाम विक्षिप्त प्रवृत्त्याधि सही तत्व स्मृत्य संभवा कि उनके द्वारा सत्य स्मृति नहीं हो सकती